यमन कल्याण आप सितार पर सुन रहे थे बहुत ही अच्छा बजाया इन लोगों ने बच्चों ने और मैं समझता हूँ कि जब सतगुरु जी महाराज इन बच्चों को देखेंगे ने वीडियो में तो यकीनन वो इनको आशीर्वाद देंगे और ये और भी अच्छा सीखेंगे मैं इनके गुरुओं को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा बजा रहे हैं अब से ही जब बच्चे छोटी उम्र में इतना अच्छा बजाते हैं तो बड़े संवेदनशील बड़े सेंसिटिव होते हैं वो पढ़ाई में भी बड़े अच्छे रहते हैं जो माँ बाप ये समझते हैं कि अगर बच्चा आर्टिस्ट बनेगा तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा ये नहीं होता है बल्कि ये होता है ज़्यादा सेंसिटिव ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं जैसे आपने इन बच्चों को देखा तो इसलिए इनका प्रोत्साहन हर सूरत में होना चाहिए तो दोस्तों इनको बधाई देते हुए ज्ञान सिंह जी विरदी और सुजान पनेसर ने ये जुगलबंदी पेश की और तबले पर जैसे कि आप जानते हैं चंद्रमोहन संगत कर रहे थे तो बड़े कलाकार छोटे बच्चों के साथ जब संगत करते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं दरअसल तो अब अगली आइटम जो पेश करने जा रहे हैं बहुत ही बड़े कलाकार आपके सामने आ रहे हैं उस्ताद विलायत खां के बहुत सीनियर शागिर्द आपके सामने आएंगे जो खुद इस वक्त बहुत बड़े उस्ताद हैं लीड्स कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में लेक्चरर हैं और यूरोप भर में भ्रमण कर चुके सब जगह अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं सबसे बड़े बड़े वेन्यूज़ में इनका सितार वादन मैंने अक्सर सुना है बहुत प्यारा हाथ है तो इनके साथ सेक्सोफोन पे जैसी बैनिस्टर संगत करेंगे ये जुगलबंदी है सेक्सोफोन और सितार की जुगलबंदी साउथ में सुना है कि बहुत प्रचलित है लेकिन यहाँ कम है लेट्स एडमिन जैसी has been performing extensively performing days I am told by his guru that he has performed recently in Calcutta. He has been very well received over there. He's a very fine artist. Please welcome these two great artists, Dharamveer Singh and Jesse Bannister. और इनके पीछे पीछे जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए आ रहे हैं वो कोई छोटी चीज़ नहीं है बहुत बड़े कलाकार हैं तबला के बहुत बड़े घराने के ये नूर चश्म है बनारस घराने के सपूत हैं बहुत ही प्यारा इनका हाथ हाथ देखेंगे बड़ा अलग किस्म का है और पंडित राम सहाय इनके पूर्वजों में माने गए हैं जिन्होंने बनारस घराने की बुनियाद रखी इनके पिताजी सब बहुत ही बड़े बड़े कलाकार हैं संजू सहाय ने शायद ही कोई बड़ा कलाकार हो जिनके जिनके साथ संगत नहीं की इनका बहुत ही प्यारा हाथ है मैंने इनको अक्सर सुना है और जितने ये शानदार तबला वादक है उतने ही खूबसूरत बहुत हैं आपने देखा है ladies gentleman please welcome the Triveni of this music thank you